C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम दारा शिकोह एक शहजादा जो सूफी संत बना हमारी इस ऐतिहासिक कहानी का नायक है दारा शिकोह ताजमहल की तामीर करने वाले शाहजहां के सबसे बड़े शहजादे दारा शिको मुगल सल्तनत पर आधी सदी तक राज करने वाले बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े भाई दारा शिको और अपने समय की आम सोच से कहीं आगे एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु इंसान दारा शिको जो आज भी प्रासंगिक है हैं साजिशें हैं साजिशें जो आदमी है आदमी से डर रहा खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा दारा तेरी कोशिश तो थी कि इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए ये था एक गुमनाम सूफी संत दारा शिकोह मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे या खुदा आज तेरी नेमतों से मेरी यह किताब हसना तो लारफीन पूरी हुई मैंने अपनी इस किताब में 107 साधु संतों की वाणी और उनके प्रवचनों का संग्रह किया है मेरे लिए रब का मतलब सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं बल्कि सबका अल्लाह है मेरे मौला तेरी राह पर यूं ही चल सकूं मेरा हौसला बुलंद कर मेरे मौला मेरा हौसला दारा शिकोह बचपन से ही कर्मकांड अंधविश्वास और कट्टरता के घोर विरोधी रहे सन 1632 में 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह नादरा बेगम करीमुन्नसा से हुआ बामुलाहिजा होशियार शहजादा शाहजहां नूर हिंदोस्ता बादशाह जादाए बुजुर्ग जलालुल कादिर सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल अपनी बेगम नाजरा करीम निसा के साथ तशरीफ ला रहे हैं लेकिन दारा की फक्कड़ मिजाजी कम ना हुई समय गुजर रहा था एक दिन नादरा दारा का रूप देखकर चौंक गई मेरे आका ये आप आपने ये क्या क्या हुआ बेगम हम आपकी परेशानी का सबब जान सकते हैं गुस्ताखी माफ ये वो शहजादा नहीं जिसे हमने जाना था बदन पर मामूली नादरी कुर्ता जिस पर एक भी पन्ना मोती नहीं चढ़ा गले में मा, मामूली सी नारंगी चादर बेगम ये देखने में मामूली कुर्ता और मामूली चादर जरूर है लेकिन नादरा ये बेशकीमत है हाँ। शाहों के शाह की बरकत की तरह क्योंकि इसे मुझे हजरत हुजूर ने दिया है बेगम अब हम खुद के भी कहां रहे हकीकी आशिकी में यूं दुआएं काम आती हैं खुदी से दूर हो जितना खुदा के पास लाती हैं हुजूर हाँ बेगम आज से मियाँ मीर मेरे हुजूर और मैं उनका मुरीद जानती हो नादरा वो सिर्फ लाहौर के कादरी सूफी संत नहीं है वो तो पूरे हिंदुस्तान पूरी इंसानियत को राह दिखाने वाले गुरु हैं लिल्ला हमें तो आपकी बोली आपकी जुबान में भी फर्क नजर आने लगा है क्या कहती हैं बेगम हम तो हर बोली हर मजहब का फर्क मिटाने में लगे आपके जहन में इस तरह के ख्यालात आते कैसे हैं इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मुल्ला शाह बदख्शी के जिन्होंने हमें अपने गुरु हजरत मिया मीर से मिलवाया आप कहीं फकीर ना बन जाएं शाही से फकीरी किस मायने में कम है बेगम समझते क्यों नहीं आपने अगर फकीरी चुन ली तो तो खुदा खैर करे बादशाह सलामत तो अब्बा हुजूर बरसों बरस हमारी सरपरस्ती करने को सलामत रहेंगे बेगम लेकिन शहजादा औरंगजेब आपको पता है कि बाबा फरीद क्या कहते हैं हाँ। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख फरीदा जे तू अकल लती काले लिखना लेख जे तू अकल लती काले लिखना ले अपनड़े सन सोलह एक और औरंगजेब सियासी चालें चल रहा था बिसात बिछा रहा था तो दूसरी ओर हर इंसान में ईश्वर को देखने वाला दारा फारसी शायरी इतिहास संस्कृत भाषा और योग में रुचि दिखा रहा था सन सोलह में ही उन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया जिसे सिर्र अकबर और सिर्रुल असरार के नाम से जाना जाता है सिर्र अकबर का अर्थ है द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री यानी महान रहस्य दारा का मत था कि कुरान में जिस किताबुल मकनून यानी गुप्त पुस्तक या हिडन बुक का जिक्र आता है वो और कुछ नहीं उपनिषद ही है उपनिषद के अनुवाद की भूमिका में दारा स्वयं को ही संबोधित करते हुए कहते हैं ये खोजी फकीर मोहम्मद दारा शिकोह जब कश्मीर पहुंचा तो वहां अपने मजहब को जानने समझने की उसकी इच्छा को आनंद मिला अनेक महान ग्रंथों के ज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी उसने पाया कि पाक कुरान हो ईसाइयों की किताबें मोजिजा हो या चारों वेद और उपनिषद सबका ईश्वर एक है दारा की एक किताब मजमूल बहरीन है जिसका अर्थ है दो समुद्रों का मिलन इसमें हिंदुत्व और इस्लाम का मेल दर्शाया गया है दारा कहते हैं तारीफ उस खुदा की है जिसने इस्लाम और कुफ्र की दो जुल्फ़ें जो एक दूसरे के मुकाबल में हैं अपने चेहरे पर लहराई महान सूफी संत सरमद काशानी से भी दारा बहुत प्रभावित थे दारा शिको की एक किताब नाम है इरफानी सूफी मत पर आधारित है उनकी कविताओं का संकलन दीवाने दारा के नाम से जाना जाता है ये इकसीर आजम और दीवाने कादरी के नाम से भी प्रसिद्ध है दारा शिकोह की कविताओं की रवानी ही कुछ और है शुक्र लिल्लाह के बदी बदीदम इमरोस अजदरो बाम पदीदार बदीदम इमरोस दीद ने रुई मयसर न शवद यकसात मन हुशश दीदमो बिसियार बदीदम इमरोस गैरिया यार हमार रफ्त जयालम बूदम जलवागर दरो गुलो खार बदीदम इमरोज़ दारा शिकोह और औरंगजेब में जमीन आसमान का अंतर था एक तरफ सियासत और तलवार दूसरी तरफ मोहब्बत और कलम ऊंचे कद और सुडौल जिस्म वाले दारा पंजाब और उसके साथ जुड़े सूबों के गवर्नर थे अपनी काबिलियत मोहब्बत और दरिया दिली के कारण वो अपनी प्रजा के बहुत चाहते थे और औरंगजेब के लिए ये असहनीय था सत्ता की भूख ने करह को जन्म दिया और औरंगजेब ने दारा के खिलाफ जंग छेड़ दी एक शांति प्रिय शहजादा जंग को मजबूर हुआ उनतीस मई सोलह को आगरा के निकट सामूगढ़ में दारा की पराजय हुई पर वीर दाराशी को हाथ न आया यूरोपियन सैनिक अफसरों को लेकर दारा ने फिर सेना तैयार की जंग फिर हुई दारा फिर पराजित हुआ पर अब भी औरंगजेब के हाथ न लगा लेकिन भोले भाले दारा को एक विश्वास पात्र जीवन खान ने धोखा दिया और उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया और बदहाल कैदी दारा को दिल्ली के गली कूचों में घुमाया गया अरे देखिए जुल्म है भाई जुल्म ये तो शाही जुल्म है सरासर नाइंसाफी है ये दुहाई है दुहाई हमारा दिल अजीज तारा अरे लाहौल विला कुवत इस्लाम के दुश्मन का तो यही हश्र होना था क्या कहते हैं जनाब तारा सबसे नेक रहमदिल और तालीम याफ्ता शहजादा है बिल्कुल सही फरमाया आपने लेकिन अफसोस अरे ऐसे काफिर को शहनशाह हिंद देखते हैं आप हाँ, ऐसे शख्स का तो सर कलम कर देना चाहिए ए हाँ। खुदा के बंदे खुदा के बंदे से बैर कर दुआ खुदावंद करे खुदा के पते की खैर अकबर और इसके बाद शाहजहां को कैद कर 15 जून सोलह को औरंगजेब हिंदुस्तान के सिंहासन पर जा बैठा अब औरंगजेब ने दारा शिकोह पर ला मजहब यानी धर्म विहीन होने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया बुधवार 29 अगस्त सोलह लाल किले का दीवाने खास औरंगज़ेब काजी फजलुल हक दारोगा बहादुर खान शाइस्ता खान औरंगज़ेब के मामा और बहादुर सिंह और वकील अब्दुल खान और अन्य दरबारी दरबार में उपस्थित हो चुके थे और फिर शुरू हुआ इतिहास में दर्ज वो मशहूर मुकदमा शहनशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया जनाब काजी फजलुल हक हुक्म जहां पना मुकदमे का आगाज किया जाए जो हुक्म आली जहां आज इस दरबार में एक अहम बेदीनी का मुकदमा हमारे रूबरू है शिकायत है कि मुलजिम दारा शिको मुसलमान होकर भी हिंदू जोगियों और सिख गुरुओं की संगत करता है उसकी कारगुजारियां सल्तनत हिंद और मजहब इस्लाम के खिलाफ हैं हम्म। मुलजिम दारा आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको इजाजत है <laughs> सफाई आज तक कोशिश तो यही की है कि कुछ दिल की सफाई हो कुछ रूह की सफाई हो मेरा क्या मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं जिस बुतो पत्थर को देखूं तू ही तू दिखाई दे तेरी तलाश सामने क्या ना तुझे दिखाई दे ए खुदा दारा तेरा काफिर हुआ जाए है जहां पना मुजरिम अपने गुनाह का इकरार करता है यह बुत परस्ती नहीं तो क्या है हुजूर अगर यह खता खुदा की शान में करता हूं तो खुदा का गुनहगार हूं खुदा के बंदे का तो नहीं खुदा हमें सजा देगा खुदा के बंदे को यह कहां क्यों काजी साहब खामोश जबान दराजी के हक से आप महरूम हैं ये आपको समझ आना चाहिए बोलने का हक दिया तो सुनो खींच ली कितनी हम आवाज बा बुलंद कहते हैं रब्बुल आलमीन सारी दुनिया का मालिक एक है उसके लिए मुसलमान होने की कोई कैद नहीं हम कुर्ते सीकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना गुजारा करते हैं बिरादर दारा शिको आप हमें क्या इस्लाम के कायदे बताएंगे <laughs> भाई भी कहते हैं और गले भी नहीं लगाते <laughs> आप ही कहें हम क्या करें जब हम सच को सीने में महसूस करते हैं तो हमें हिंदू और मुसलमान में फर्क महसूस नहीं होता हम क्या करें कि शिव की मूरत में अल्लाह में जो चिड़ जाए बात बात में जो कि जो कुरान कहे गीता में ना सुनाई दे जन्नत का रास्ता हमें स्वर्ग की सीढ़ियों से जुदा क्यों नहीं लगता रहीम की संगत में हमें राम से परहेज क्यों नहीं होता ये तो तो हाँ, और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इजाजत हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं हमें आपकी नाराजगी का इल्म है वकील अब्दुल खान साहब जो कहना है बेखौफ कहिए जहां पना मुलजिम जिंदगी भर हिंदू देवी देवताओं की बातें करता रहा है उसके दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत में प्रभु लफ्ज खुदा है बाजू के जोशन बंद के बीच संस्कृत में ब्रह्म खुदा है ये ये, ये देखिए ये देखिए मुस्लिम का कमरबंद इसके पट्टे में शिव की मूर्ति खुदी है और यही नहीं अलमास की आरसी में भी शिव की मूर्ति खुदी है जाहिर है मुलजिम सरासर ला मजहब हो गया है <laughs> वकील साहब मजहब इतना छोटा और कमजोर कब से हो गया कि एक तस्वीर से उजड़े और एक लफ्ज से बिगड़े तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप पांचों वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते आप जैसे बेनमाजी को क्या खुदा मिल सकता है न मंदिर में न मस्जिद में न काबा कैलाश में मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में खामोशी बहाल हो जहां पना देखा आपने जाने किन काफिरों की शायरी सुना सुना कर खुद भी काफिर हुआ जा रहा है मुलजिम ठीक कहा काजी साहब बहादुर सिंह जी बादशाह सलामत क्या ये सच नहीं कि मुलजिम दारा आपके गुरु हर राय की पनाह में आया था जी हाँ जहां पनाह और हमारे गुरुजी ने आयुर्वेदिक दवाओं से दारा जी को भला चंगा किया था हम्म। आप क्या कहते हैं बिरादर दारा गुरुजी मुगल हुकूमत ने आपके बुजुर्गों और सिख धर्म को मानने वालों पर जुल्म ढाए फिर भी गुरु हर राय ने हमारी एक मुगल शहजादे की जान क्यों बचाई बताइए ये तो प्रेम और मानवता का काम है जी गुरु हर राय जी कहते हैं चंदन को कुल्हाड़ी काटती है लेकिन चंदन की खुशबू उसी कुल्हाड़ी में बस जाती है इसीलिए मेरा गुरुजी का एहसान मंद होना लाजमी है मैं निहायत एहतराम से यह कहना चाहता हूं कि लाहौर के सूफी संत मियां मीर से अमृतसर के श्री हरमंदर साहब की नींव रखवाई गई क्या ये ये बेमजहबी था तुम अच्छे और बुरे गलत और सही की पहचान भूल चुके मेरी पहचान ये कहती है कि गुरु नानक हिंदू और मुसलमान ही नहीं सारी इंसानियत के रह पर थी अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे कुदरत दे सब बंदे एक नूर पे सब जग उपजा कौन पले को मंदे कौन फले ये तो ये तो जहाँ बना की तोहीन है हाँ। भाई इस्लाम का दुश्मन हमारा दुश्मन अरे पर मोहब्बत की बात करता है कुछ पता नहीं क्या खामोशी बदस्तूर कायम हो जिगर की हलचलों के पास जुबा हो खुदा करे जहां को चुप करे खुदा से गुफ्तगु करे हम हम इस बेहाई को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते तारा का जिंदा रहना हम मुनासिब नहीं जनाब खासी फजल हक जहां बना दरबार मुगलिया का फैसला हर खासवाम को सुना दिया जाए जो हुक्म आलम पना <laughs> आलम पुना यानी दुनिया को पना देने वाला आलम पना सब दलीलों को सुनने के बाद यह राय बनी कि शहजादा दारा शिकोह को जिंदा रखना आईन सियासत और इल्म दीन के खिलाफ है इसलिए रात के दो बजे खासपुरा महल में उन्हें सजाए मौत दी जाएगी दरबार का हुक्म है कि उनका सर तंग से जुदा कर दिया जाए दरबार खास बर्खास्त किया जाता है दुआ ले जाओ मुसाफिर बस दुआओं में असर है समझ नादा खयामत में मेरा खंजर तेरा सर है और 30 अगस्त सन सोलह को दारा और दारा के बेटे सिपहर शिकोह की निर्मम हत्या के बाद दोनों को हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया जहां हुमायूं और उनकी बेगम यानी अकबर की मां हमीदा बानो के मजार भी हैं दारा आज बेहद खुश है कि अल्लाह की रहमत से वो स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हुआ आज भी दारा शिकोह लेखकों और कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं पाकिस्तान के अजोका थिएटर ग्रुप ने लाहौर में 2010 में एक नाटक का मंचन किया था the trial of Dara Shikoh Mahatma Gandhi के पोते और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नवासे और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके प्रसिद्ध लेखक गोपाल कृष्ण गांधी भी इस विषय से अछूते न रह सके उन्होंने भी एक नाटक लिखा दाराशिको जिसने भी दाराशिकोह को जाना वो उससे आकर्षित हुए बिना न रह सका महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कह उठे Dara Shikoh had a unique mind and temperament and should for ever moan the unfortunate day when his enemies triumphed thank you साजिश जो आदमी है आदमी से डर रहा है साजिशें खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा है मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा है साजिशें तो सीखे इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए इश्क सितारा शिकोह एक शहजादा जो सूफी संत बना अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम विषय संयोजन शोध एवं शोध आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह आभार दारा शिको पुस्तकालय कश्मीरी गेट दिल्ली और उर्दू विभाग एन कलाकार सुचित्रा गुप्ता अश्वनी वालिया नीरज शर्मा बाबला कोचर हर्ष बाला राजेश आहूजा प्रवीण शर्मा विद्याभूषण मुइनुल हसन और परवेज गौहर संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर देवाशीष ध्वनियांकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडो रेडियो आलेख ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति C I E T N C E R T